दस अध्याय <clears throat> छाछठ नंबर के श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था जिसमें कहा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम भज हम तो आ सर्व पापे मुख्य श्याम इसी के ऊपर विचार है तुमने जो अपने में आत्मा में सारे धर्म आरोप किया है मनुष्यत्वादि धर्म जितने भी धर्म और अधर्म मैं पापी हूं मैं धर्मात्मा हूं आदि ये सब आरोप किया है इसको परित्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम निर्विशेषम आत्मान शरणम भजा मैं जो निर्विशेष आत्मा हूं उसके शरण में हो जाओ हम तो सर्व पाप जो मैं तुम्हें ऐसा निर्विशेष आत्मा मुझको तुम शरण में हो जाते हो तो सारे पापों को नाश कर दूंगा मैं मुक्त करूंगा मैं पापों से मुक्त कर दूंगा मैं मोक्ष दिलाऊंगा ये भगवान की प्रतिज्ञा है इसको विचार चल रहा था पूर्व पक्ष मीमांसक है यहां सिद्धांति वेदांति है पूर्व पक्ष का कहना है नित्य कर्म के द्वारा पूर्व पापों का नाश होता है यह उनका कहना है सिद्धांति कहते नहीं पूर्व पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित होता है नित्य कर्म का आगामी फल है नित्य कर्म दो प्रकार के हैं निष्काम और सकाम निष्काम भाव से करेगा तो अंतकर्म की शुद्धि के माध्यम से ज्ञान के साधन होगा सकाम भाव से करेगा नित्य कर्म स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी नित्य कर्म का फल पूर्व दुरित का नाश नहीं है वो प्रायश्चित का फल होता है दुरित का जो नाश होना प्रायश्चित का फल है प्रायश्चित कर्म ये दो होते हैं इसलिए नित्य नैमित्त की ओर वह कुर्बाणु दुर्तक्षण कहा है नित्य कर्म और नैमित्तिक प्रायश्चित आदि होते हैं प्रायश्चित कर्म ये दो के द्वारा दो काम होगा नित्य नैमित्त गौरव नित्य कर्म तो प्रतिदिन अग्निहोत्र आदि है उसके द्वारा एक होगा और दूसरा प्रायश्चित नैमित्तिक कर्म के द्वारा नित्य नैमित्त गौरव कुर्बाणु द्रुत क्षय माने पाप नाश करता हुआ पाप नाश होगा प्रायश्चित से ज्ञानम च विमली कुर्बान और ज्ञान को शुद्ध करता हुआ यह है नित्य कर्म का फल ज्ञान को शुद्ध करता हुआ यह है अध्याय संयोग नहीं वो पाचय कहा अभ्यास के द्वारा उसको पकाए परिपक्व बनाए ज्ञान को अभ्यास अपक्व विज्ञानात कैवल्यम लगते हैं नौरा कहा है अभ्यास जो पका हुआ विज्ञान परिपक्व अवस्था में पहुंचा हुआ विज्ञान होगा उसके द्वारा क्या प्राप्त करता है कैवल्य को प्राप्त करेगा ऐसा कहा गया है तो नित्य कर्म जन्य जो दुख होगा वो पूर्व दुरित का फल नहीं है वो ये सिद्धांत के बोल रहे हैं तो पूर्वकृत पाप का फल नहीं है पूर्व पाप का फल पाप का क्या नाश करने वाला तो होता है प्रायश्चित होता है यही सिद्ध चल रहा था इत नित्यानुष्ठान आयास दुखम एवं उपात दुरित फलम यदि असक्यम वक्तुम आगे एक तर्क और देना चाहते हैं नित्य कर्म करते समय जो आयास परिश्रम हुआ है तजन जो दुख है वही होगा पूर्व पूर्व पाप का फल उपाप्त दुर्ग का फल जो ग्रहण किया हुआ पाप है पहले से किया हुआ पाप है उसका फल वही है नित्य कर्म अनुष्ठान काल में जो होने वाला दुख ये ये इसलिए भी नहीं कह सकते ये तस् न सक्यम भक्तुम सिद्धांत बोल रहे इस हेतु से आगे तर्क देना चाहते हैं नित्य अनुष्ठान के काल में जो दुख हो रखा है दुख हुआ है वह दुख पूर्वकृत पाप का ही फल है ये नहीं कहा जा सकता सिद्धांत कहते हैं ये हेतु है इतश्च अस्माद अभी कारणात ये कारण है क्या कारण है तो कहा किंच अन्य कहा और भी बात सुनो सिद्धांत कह रहे नित्य से काम्य से जो अग्निहोत्रादि अनुसार आय से दुख से तुल्यता चाहे देखो नित्य अग्निहोत्र करो चाहे काम्य अग्निहोत्र करो परिश्रम तो दोनों में समान ही होगा आयास दोनों में समान है चाहे नित्य अग्निहोत्र हो चाहे काम्य हो आदि अनुष्ठान आया से दुख कैसे अनुष्ठान में होने वाला दुख है तुल्य तो दुख तो समान ही होगा दोनों स्थिति में चाहे नित्य करो चाहे काम्य करो तो परिश्रम जन जो दुख होगा करते समय का परिश्रम जन दुख दोनों तो समान है होने पर एक का फल तो स्वर्ग कहते हो किसका फल काम्य का और नित्य कर्म का फल पूर्व दूरी का हाँ, फल पाते हो ये कैसे हो सकता है जब समान परिश्रम है दोनों करने में काम्य हो चाहे नित्य सिद्धांत ये बोल रहे हैं किंच और भी है कहा नित्य किंच अन्य और भी बात है कि नित्य से काम्य से अग्निहोत्र आदि चाहे नित्य काम्य अग्निहोत्र आदि हो चाहे काम्य हो दोनों के दोनों जो भी हो अनुष्ठान आय से दुख से तुल्य तो अनुष्ठान में होने वाला जो दुख है परिश्रम जन्य दुख है वो तो समान है तो नित्य अनुष्ठान आया आया से दुखम में तो पूर्व दूर से फलम उसमें से तुम कहना चाहते हो जो नित्य कर्म करते समय जो परिश्रम होता है परिश्रम जन दुख है वो पूर्वकृत पाप का फल है ये मानना न तो काम में अनुष्ठान आय से में थी विशेष हो नास्ती और काम में अनुष्ठान में होने वाला जो परिश्रम है तजन दुख है वो नहीं होता पूर्वकृत पाप का फल नहीं होता तुम ये कहना चाहते हो काम में से तो स्वर्ग फल मिलेगा बोलते हो और नित्य के अनुष्ठान काल में जो दुख है वो पूर्वकृत पाप का फल मानते हो इसमें क्या विशेषता है जब समान परिश्रम है दोनों करने में चाहे नित्य अग्निहोत्रादि हो चाहे काम्य हो परिश्रम जन दुख समान है और एक का फल मानना कि पूर्वकृत दुरुत का फल और दूसरे काम्य का बोलना कि स्वर्गादि फल उसमें पूर्व दुरुत फल नहीं कहना है विशेषता क्या है इसमें ये सिद्धांत पूछ रहे हैं न तो काम्य अनुसार आयसा दुखम काम्य अनुसार में होने वाला जो दुख है वह अग्निहूत माने काम कर्म करते समय दुख का फल नहीं मानना स्वर्ग फल है पूर्व दुर्कृत कर्म का फल नहीं है मानना विशेष और आदि कोई विशेषता तो है दोनों में समान है परिश्रम दोनों में समान है दुख समान है तदपि पूर्वकृत दुर्फल है हाँ यदि माने नित्य कर्म का फल पूर्व दुरित का कष्ट मान भोगना कष्ट भोगना मानते हो तो काम कर्म को मानना पड़ेगा जो समान परिश्रम है दोनों में तो काम कर्म का फल भी तो पूर्वकृत दूरी का नाश फल है मानना पड़ेगा किंतु मानने को तैयार नहीं है सकते तो उसका तो फल काम्य का मानता है स्वर्ग आदि फल और नित्य कर्म का दुख जो है वो पूर्वकृत पाप का फल ये हो समान है परिश्रम समान है ये कहा हुआ है तथा जैसे जब समान परिश्रम है दोनों में तथा यदि नित्यानाम फलाश्रवणात और दूसरी बात नित्य कर्म का फल नहीं सुनाई पड़ा पूर्वादि ये बोलता है फल नहीं सुना आगामी फल कोई भी नहीं सुनाई पड़ा स्वर्ग पुत्र आदि फल नहीं सुना पड़ता काम्य का तो फल सुनाई पड़ता है स्वर्ग काम वो अग्निहोत्रम स्वर्ग से आने वाला क्या करे काम्य का, कर्म वाला अग्निहोत्र के लिए तो फल सुनाई पड़ा है नित्य कर्म का अग्निहोत्रम दुहियात या कोई फल नहीं कथा सके नित्याराम फलाश्रवणात् विमांसों का कहना है नित्य कर्म का फल नहीं होता नहीं सुनाई पड़ा विधि उद्देश्य में और तद विधान अन्यथा अनुपद फल नहीं सुनाई पड़ता है और विधान है उसका किसका नित्य कर्म का तो फल के बिना विधान नहीं होना चाहिए तद विधान अन्यथा अनुपद उसका विधान अन्यथा नहीं हो सकते तो कल्पना करनी पड़ेगी बोलते क्या फल पूर्वकृत दुख का क्षय हो जाना नित्य कर्म करने से पूर्वकृत दुख जो होगा यहां वो दुख पूर्वकृत पापों का फल है नित्य कर्म करते हैं दुख ये कहते कहना है तथा सती नित्यानाम फलाशवाद विधि उद्देश्य में अग्निद्रो जुहात वाक्य में नित्य कर्म का फल नहीं सुनाई पड़ा और तद विधान अन्यथा नित्य कर्म का विधान व्यर्थ हो जाएगा फल के बिना फल सुनाई नहीं पड़ रहा है नित्य कर्म का विधान है अन्यथा अन्य प्रकार होने से अर्थापत्ति नित्य अनुष्ठान आया तो कम जो नित्य कर्म करते समय जो परिश्रम जन दुख है पूर्वकृत कृत फलम अर्थापत्ति कल्पना पूर्व किया हुआ जो पाप है उसका फल ये अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हो किसके द्वारा अर्थापत्ति प्रमाण तेन बिना तद अनुपन्नम माने फलम बिना नित्य कर्म अनुपन्नम यही होगा नित्य कर्म सुनाई पड़ा है करना भी है फल नहीं सुन पूर्व पापों का फल यह अर्थापत्ति के द्वारा सिद्ध करना चाहते हो तुम लोग ये सिद्धांत कह रहे हैं ये कल्पना ठीक नहीं हो सकती है क्यों नित्य कर्म का भी फल है ये सिद्धांत बोलते हैं क्या फल है पूर्वकृत पापों का क्षय होना फल नहीं या नित्य कर्म का मान नित्य कर्म का फल होगा अंतकर्म की शुद्धि आदि क्या स्वर्ग आदि जैसा काम में होगा चाहे जैसा हो ये फल है ये कहना एक अर्थापत्ति हम ही सकती है तुम्हारी ये कहा एवं विधान अन्यथा अनुपत्तेर अनुष्ठान आय स्तुत का व्यतिरिक्त फल तो अनुमान से कहते हैं जो विधान हुआ है फल नहीं सुनाई पड़ा है नित्य कर्म का अग्नोत्र विधान है किंतु मान पुत्र काम हो जाता स्वर्ग काम हो जाता आदि में जैसे पुत्र स्वर्ग आदि फल दिखाई पड़ते हैं यहां नहीं है अग्नोत्र एवं विधान अन्यथा इस प्रकार का नित्य कर्म का विधान अन्य प्रकार हो नहीं सकता फल की कल्पना तो करनी पड़ेगी क्या कल्पना करें कहते हैं अनुपत्य अनुष्ठान आय से दुख व्यतिरिक्त फल अनुष्ठान से के परिश्रम से जन्य दुख है उसे अतिरिक्त फल है ऐसी कल्पना करनी चाहिए अनुमान करना चाहिए सिद्धांत बोधे इस अनुमान से सिद्ध होगा ये भी नित्य कर्म से नित्य कर्म अनुष्ठान जन्य दुख से भिन्न फल वाला जैसे काम्य कर्म कर्मत्व हेतु तो दोनों में है नित्य कर्म भी अनुष्ठान जन्य जो परिश्रम जन्य दुख होगा उससे भिन्न फल वाला है जैसे काम्य कर्म है अनुष्ठान जन्य दुख से भिन्न फल वाला होता है इसी प्रकार यही कहना है एवं विधान अन्यथा अनुपत्य है फल नहीं सुनाई पड़ा है विधान हुआ है वाक्य का तो अनुमान से फल की काम कल्पना करनी पड़ेगी सिद्धांत बोलते हैं विधान अन्यथान उत्पत्ति अनुप्रकार विधान होने फल के बिना माने प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी नित्य कर्म में फल नहीं सुनाई पड़ रहा वाक्य में तो अनुमान से सिद्ध होगा फल अनुष्ठान आय दुख मित्र फल तो अनुमान अच्छा। अनुष्ठान काल में होने वाला दुख है नित्य कर्म करते हुए दुख के अतिरिक्त फल वाला का अनुमान करना चाहिए नित्य कर्म तीसरी बात है विरोधाच विरोध भी है क्या विरोध है मैंने मीमांसकों के मत में विरोध भी है क्या विरोध है विरुद्धम से एकदम उच्च थे विरोध भी निश्चित तो इनके द्वारा कहा जाता है क्या विरोध है नित्य कर्म नहीं अनुष्ठीय माने अन्य से कर्म का फल पूछते नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय अन्य कर्म का फल किसका पूर्वकृत पापों का फल भोगा जाता है मानते हैं क्या मानते हैं अन्य कर्मों का फल पूर्व पापों का फल भोगा जाता है कब नित्य कर्म अनुष्ठान काल में ये इनका कहना है हाँ। एक तरफ कहते हैं कि नित्य कर्म का फल नहीं है और एक तरफ बोलते हैं नित्य कर्म करते समय में जो परिश्रम दुख होता है वह अन्य कर्मों का फल है मानते हैं ये विरोध भी है इनके यहां ठीक है विरुद्धम से एकदम उचित यह बात इनकी विरोध विरोधी बात भी है नित्य कर्म नहीं अनुष्ठीय माने नित्य कर्म करने पर अन्य से कर्म फल मुझे अन्य कर्म का फल भोगा जाता है कौन से कर्म पूर्वकृत दुर्ग का फल हम्म। भोगा जाता है मानना मानते और इसी अभ्युवान ऐसे स्वीकार करने पर सैव उपभोग वही जो उपभोग हो रहा है अन्य पापों का फल का उपभोग हो रहा है कब नित्य कर्म करते समय का आयास जन्य दुख है वही पापों का फल है अन्य पूर्वकृत पापों का फल है सही उपभोग नित्य कर्म और फल में दे नित्य कर्म का फल भी वही है अन्य फल तो है ही नहीं नित्य कर्म का फल भी उसी को मानना अन्य फल तो नित्य कर्म का मानते नहीं है यदि नित्य से कर्म फलाभाव और नित्य कर्म का फल नहीं होता कहना ये विरोध भी है माने नित्य कर्म करते समय परिश्रम होता है कष्ट होता है दुख है वो दुख पूर्वकृत पाप का फल है नित्य कर्म का फल भी वही अतिरिक्त फल तो है ही नहीं मानते नित्य कर्म का फल नहीं है कहना विरोधी भी है फल है मानना फल नहीं है कहना विरोधी भी है कहना ये कहा किंच काम्याग्निहोत्रादो और भी कारण है काम्या काम्याग्निहोत्रादो अनुष्ठीय माने नित्यम अभी अग्निहोत्रादि तंत्र में अनुष्ठित में होती है जब काम्य अग्निहोत्र करता है कोई व्यक्ति तो नित्य भी उस काल में होता ही है नित्य के बिना काम्य नहीं होता नित्य उसी का अंतर्भूत होकर आता है किंतु काम्याग्निहोत्रादो अनुष्ठेय माने जो काम्याग्निहोत्रादि का अनुष्ठान काल में नित्यम अपनी अग्निहोत्रादि तंत्रेण अनुष्ठितम होती हाँ, नित्य अग्निहोत्रादि तंत्र के द्वारा मान हाँ, सकृत उच्चारित सती अनेकार्थ जनकत्व तंत्रम तंत्र का ऐसा अर्थ होता है एक बार उच्चारण करने पर अनेक अर्थ बताता हो ही शब्द उसको तंत्र कहा जाता है तो तंत्र के द्वारा ही एक ही बार कहा जाता है अग्निहोत्र जुयात है तो काम में अग्निहोत्र को उद्देश्य करके कहा था नित्य भी वहां है तंत्र न्याय से कि काम्य अग्निहोत्रादो अनुष्ठेय माने काम्य अग्निहोत्रादि के अनुष्ठान काल में अनुष्ठान होने पर नित्य में भी अभी अग्निहोत्रादि नित्य अग्निहोत्रादि हैं वह भी तंत्रेण अनुष्ठितम भवती तंत्र के द्वारा ही माने कहा गया तो काम्य अग्निहोत्र की चर्चा की किंतु नित्य भी वहां लिया जाएगा अग्निहोत्र तो अग्निहोत्र तो है अनुष्ठित तद आया से दुखे रहेगा काम्य अग्निहोत्रादि फल फल मोक्षण सात तंत्र तत्तंत्र होगा तो जो नित्य कर्म करना रूपी जो दुख है नित्य कर्म करने से दुख है तत्माने नित्य कर्म नित्य अग्निहोत्र में आयास जो परिश्रम जन्य दुख है उसी के द्वारा ही काम में अग्निहोत्र आदि फल मुक्त काम में अग्निहोत्र आदि फल भी छीण हो जाएगा एक ही फल भी छीण हो जाएगा फिर स्वर्ग आदि नहीं मिलेगा यदि नित्य कर्म का फल नहीं है तो नित्य कर्म से अभिन्न काम्य कर्म है काम्य कर्म तो करते समय नित्य कर्म रहेगा ही रहेगा नित्य कर्म के बिना काम्य कर्म होगा नहीं तो इस स्थिति में क्या होगा नित्य कर्म के फल भोगते हुए काम्य कर्मों के फल समाप्त हो जाएगा तुम्हारे कथन के अनुसार उस स्थिति में स्वर्ग आदि फल भी नहीं मिल रहा काम्य कर्मों का स्थिति है कहा तत्तंत्र तो आपका नित्य कर्म के अधीन है काम्य कर्म चाहिए टीका में कहते हैं काम्यानुष्ठान आयस दुखम अपनी दुरित फलम यदि ओगात प्रसंग से स्थितम आ सकता मीमांसक की ओर से कहा जाए कि जैसे नित्य कर्म पूर्वकृत पापों का फल है नित्य कर्म करते थे दुख पूर्वकृत पापों का फल है उसी प्रकार काम्य अग्निहोत्र आदि जो करेंगे काम्य कर्म करते हैं वो भी पूर्वकृत पापों का फल है हमें इष्ट है वो सिद्धांत ने कहा था रहती हाँ, माने नित्य कर्म का फल पूर्वकृत पापों का फल मानते हैं तो काम्य कर्म भी समान है तो समान परिश्रम समान है तो वो भी पापों का फल मानो पूर्वकृत पापों का फल स्वर्गादि फल मत मानो मांग सकते ठीक है हमें इष्ट है वो हम उसको पाप पूर्व के पाप का ही फल मानेंगे भावी फल कुछ नहीं है उसका ये मानेंगे यही कहना उनका काम्य अनुष्ठान ऐसा दुखम अभी जो में कर्म करते उसमें जो परिश्रम जन्य दुख है वह दुर्त फल हम वो भी पूर्वकृत पापों का ही फल है वो उपवाद हम स्वीकार किया हमने इसको इसलिए प्रसंग श्रेष्ठतम जब ने आपत्ति दी थी तुल्यत्वाद कहा था समान दुख समान है चाहे नित्य कर्म करो चाहे काम्य कर्म करो होने पर भी एक का फल स्वर्ग मानते हो एक का फल पूर्वकृत पापों का फल मानते हो इसमें विशेषता क्या है सिद्धांत पूछा था कहते ना ये भी पाप का ही फल है काम कर्म का तो जो दुख है वह भी पूर्वकृत पापों का फल हमें इष्टा है वो ये शंका मीमांसा ने किया था तो सिद्धांत का तथा कहते सिद्धांत सिद्धांत बोलते तथा सत्य नित्यानाम फला श्रवणात तुम कहते हो नित्य कर्म का फल नहीं है बोलते हो और तद विधान अन्यथा उपदेश फिर नित्य कर्म का विधान और किसी प्रकार होने फल के बिना विधान हो नहीं सकता इसलिए क्या करना तो नित्यानुष्ठान से दुखम पूर्वकृत फल विधि ये अर्थापत्ति प्रमाण लगाते हो नित्य कर्म के फल मानते हो किसको पूर्वकृत मान पापों का फल नित्य कर्म के परिश्रम का फल मानते हो काम कर्म क्यों ना मानना फिर जब परिश्रम है तो मैंने यहां यह कल्पना नहीं हो पाएगी नित्य कर्म के लिए अर्थापत्ति करना घटेगा नहीं नित्य कर्म भी अर्थापति प्रमाण लगाते फल नहीं सुनाई पड़ा है इसलिए उसको पूर्व पाप का फल मानना होगा ये कहा है <clears throat> सिद्धांत ने कहा विहित विहितानी तावत आनी शास्त्र में विधान है नित्य कर्म का विधान विहित है अग्निहोत्र उद्यात आदि वाक्य है न तो फलम श्रोतम उन कर्मों में फल नहीं सुनाई पड़ा जो विहित कर्म है नित्य कर्म उन नित्य कर्मों में फल नहीं सुनाई पड़ता न तो बिना फलम विधि बिना फल का विधि वाक्य हो नहीं पाएगा कोई ना कोई विधान होगा विधि होगी न तो फलम बिना विधि फल के बिना विधि नहीं हो विधि तो है अभिनोत्र जुहियात वाक्य है तेना इसी कारण से दुरित नित्य नित्यानी इसलिए क्या मान्य होगा पूर्व पापों का राश करने वाले नित्य कर्म यही तो मीमांसा बोल रहे हैं ना विधि वाक्य को फल नहीं सुनाई पड़ रहा है और बिना फल के विधि नहीं होना चाहिए तो विधि की कल्पना क्या विधि की कल्पना करना क्या करना पूर्व कर्म का नाश करने वाला है पूर्व पापों का इत्यादि इति अर्थापत्या कल्पते यही मीमांसा कहते हैं हम अर्थापत्य प्रमाण के द्वारा कल्पना करते हैं नित्य कर्म का फल यही है और पूर्वकृत पापों का फल है नित्य कर्म का कष्ट ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहते हैं तब युक्ता सिद्धांत बोलते कहना ठीक नहीं है तुम्हारा काम्यानुष्ठानाद अभी दुरित निर्वृत्ति संभवात सब समान है परिश्रम दोनों में समान है तो काम्य कर्मों के माध्यम से भी पूर्व पाप का नाश हो सकता है परिश्रम समान है दोनों में ये सिद्धांत ने कहा मैं यही कल्पना है कि नित्य कर्म का ही करते समय दुखी पूर्व पापों का फल कहना संभव नहीं है काम्य कर्म को द्वारा तो पाप नाश हो ही जाता है क्यों नहीं होता उस पापों को नाश करने के लिए नित्य कर्म क्यों करना नित्य कर्म आवश्यकता तो नहीं काम तो प्राश्चित के द्वारा काम्य कर्म का भी हो जाएगा ये सिद्धांत ने कहा किंच और बात है नित्यानि अनुष्ठान आयस दुख अतिरिक्त आने अनुमान से सिद्ध होगा सिद्धांति बोलते हैं वेदांति कहते हैं जो नित्य कर्म है ना अनुष्ठान जन्य जो दुख है नित्य कर्म करते समय जो परिश्रम जन्य दुख उससे अतिरिक्त फल वाले हैं नित्य कर्म ये दुख से अतिरिक्त फल वाले हैं क्या फल होगा विहितत्वाद हेतु दिया विहित होने के कारण काम्यवत काम्य के समान जैसे काम्य कर्म काम्य कर्म करते समय में जो कष्ट होता है उसे अतिरिक्त फल वाले हैं वही फल तो नहीं काम्य कर्म करते हुए जो कष्ट होगा वही कष्ट ही फल नहीं काम्य कर्म क्या फल है स्वर्ग आदि इस प्रकार नित्य कर्म स्वर्ग आदि फल वाले होते हैं अनुमान से सिद्ध हो जाता है विहित है जैसे काम्य कर्म विहित है तो काम्य कर्म करते समय का जो कष्ट है उसे अतिरिक्त फल वाले होते हैं आदि फल वाला होता है वो ठीक इसी प्रकार नित्य कर्म भी नित्य कर्म करते समय जो कष्ट है वो कष्ट से अतिरिक्त फल वाला होगा अतिरिक्त फल तो स्वर्ग आदि पूर्वकृत पाप को अनाशक नहीं होता नित्य कर्म पूर्वकृत पाप को अनाशक तो प्रायश्चित है सिद्धांत का कहना यह है एकाई का अनुमान कहा एका नित्य नित्यानि अनुष्ठान आय दुख अतिरिक्त फलाने नित्य कर्म जो होते हैं ना नित्य कर्म का परिश्रम करते समय जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट से अतिरिक्त फल वाले हैं विहितत्व श्रुतियों में विहित है शास्त्र में विहित है नित्य कर्म काम एवं जैसे काम्य कर्म है काम्य कर्म करते समय में जो कष्ट होता है उसे अतिरिक्त फल वाला है काम्य कर्म कौन स्वर्ग आदि फल वाला है ठीक इसी प्रकार वो भी विहित है विहितत्व तो हेतु काम्य कर्म है ठीक इसी प्रकार नित्य कर्म भी नित्य कर्म करते समय जो परिश्रम होता है कष्ट होता है तजन दुख है उससे भिन्न फल वाला है नित्य कर्म वो कष्ट वाला दुख नहीं है ये कहना चाहते दुख वाला नहीं यदि अनुमानात ऐसा अनुमान से न तेसाम तक प्रत्यर्था कहते हैं इसलिए तेसाम नित्यानाम कर्मणाम जो नित्य कर्म है वो पूर्व पापों का नाशक नहीं माना जाता पूर्व पापों का नाश तो प्रायश्चित तो होगा सिद्धांत ये बोलते हैं एवं इत्यादि शब्द से कहा था एवं विधान अन्यथा अनुपत्य कहा नित्य कर्म का विधान हो रखा है और फल नहीं सुनाई पड़ता तो फल के बिना विधान नहीं होना चाहिए विधान है नित्य कर्म का विधान है इसलिए विधान के अन्यथा कोई गति नहीं है इसलिए क्या कल्पना करनी पड़ी फल की किसके फल की कल्पना वो फल क्या है स्वर्ग आदि फल है अंतकर्म शुद्धि आदि फल है सकाम निष्काम जो दो धारणा है विधान अन्यथा प्रत्येक अनुष्ठान आया से दुख व्यतिरिक्त फल तो अनुमान अनुष्ठान में होने वाला जो परिश्रम है नित्य कर्म का जो दुख है उससे अतिरिक्त फल वाला का अनुमान होगा कोई फल नहीं है नित्य कर्म का नित्यानंद कहा आगे टीका में कहते हैं काम्यादि कर्म दृष्टांत तुम एवं भी उत्तम एवं करके जो भाष्य में लिखा है काम्यादि कर्म को दृष्टांत रहा है जैसे शास्त्र में विहित है तो काम्य कर्म करते समय जो कष्ट होता है उससे अतिरिक्त फल वाला होता है ठीक इस पर नित्य कर्म में शास्त्र में विहित है तो नित्य कर्म करते समय जो कष्ट है उससे अतिरिक्त तो फल वाला है तो एवं का ये अर्थ है कामयादि कर्म जो कामयादि कर्म होते हैं ना वही कर्म दृष्टांत देने के लिए एवं शब्द कहा सोक्ति व्याघात अपने कथन का विरोधी भी इनके बातें हैं एक तरफ बोलते हैं नित्य कर्म का फल नहीं है और एक तरफ मानते हैं नित्य कर्म का फल है विरोधी भी है यही है स्व उक्ति स्वस्य उक्ति स्व उक्ति अपने कथन था व्याघाता अपने वाणी में विरोध है इनके मीमांसकों के क्या है नित्यानुष्ठानात दूरित फल भोग अयुक्त अपने वचनों में व्याघात होने से नित्य के अनुष्ठान से पूर्व पाप का फल भोगना ठीक नहीं अयुक्त ठीक नहीं युक्ति संगत नहीं ये इनके अपने कथन का विरोध है क्या कथन है आगे देंगे स्वउक्ति विरोधाचार उक्ति पर कथन वचन परिभाषण धातु से तीन करेंगे तो उक्ति बनता है तो स्व उक्ति व्याघात अपने कथन का विरोध भी है इनका नित्यानुष्ठानात दुरीत फल उपभोग उक्ति यही है उनकी उक्ति क्या है नित्य के अनुष्ठान से माने फल के पूर्व पाप का फल का ना क्या फल भोग होता है करके कहना ये ठीक नहीं है चक्र का विरोध भी है विरुद्धम चेतम उच्चते भाष्य में कहते ये विरोधी कहा जाता है इनके द्वारा नित्य कर्मणी अनुष्ठेय माने अन्य से कर्म फल बुझेगा कोई कर्म दूसरा कर्म हो रहा है दूसरे कर्म का फल भोगा जाता है ऐसा कहना विरोध भी है कर्म क्या हो रहा है नित्य कर्म और भोगा जाता है किसका पूर्व पापों का फल दूसरे कर्मों का फल विरोध भी है नित्य कर्मणी अनुष्ठेय माने अन्य से कर्म फलम बुझते इति वो माने ऐसा स्वीकार करने पर नित्य कर्म करते समय में अन्य कर्म का फल भोग जाता है ऐसा स्वीकार करने पर सएव उपभोग वही उपभोग जो होगा नित्य कर्म करने से जो कष्ट है वह मान अन्य कर्मों का जो उपभोग है वह नित्य से कर्म फल में नित्य कर्म का फल भी वही मानना नित्य कर्म का और कोई फल तो है ही नहीं जिस फल मानते हैं नित्य कर्म को तो पाप का फल भोगा जा रहा है नित्य कर्म से वही नित्य कर्म का फल उसी में मानना अन्य फल तो है नहीं ये मानना कर्म फलाभाव अनित्य कर्म का फल नहीं होता कहना विरोध भी है इसलिए विरुद्ध तो मुझसे नहीं कहा ठीक है हम कहते हैं तदेव प्रपंच विरुद्धम से यदि उच्चते इतिहास कहा था इदम शब्दार्थ में इदम है ना इदम उच्चते विरुद्धम से इदम उच्चते इदम शब्द के व्याख्या करते हैं नित्य इत्यादि का इदम से क्या नित्य कर्म है नित्य कर्म ने अनुष्य मारे अन्य से इत्यादि अन्य से कर्म दुर्त से त्याग नित्य कर्म करते हो अन्य कर्म का फल भोग अन्य कर्म माने कौन पूर्वकृत पापों का फल भोगना मानते हैं सएव वही नित्य कर्म का फल है अन्य फल तो है ही नहीं नित्य कर्म का ऐसा मानना एक आशा यद अनंतम यद भवती तत् तस्य कार्य नियमा देते जिसके आगे जो होता है जिसके पश्चात जो होगा उसका कार्य होता है जैसे मृतिका के पश्चात घट होता है तो मृतिका का कार्य घट यद अनंतरम यद भवती जिसके अंदर जो होता है वो उसका फल होता है ये नियम नियमादित इत्यर्थ कहा वही नित्य कर्म का फल माना जाएगा क्योंकि नित्य कर्म करने से जन्य दुख होगा नित्य कर्म के पश्चात हुआ दुख है वो उसी का कार्य फल है वो ऐसा माना जाएगा इसलिए वही वही जो पूर्वकृत पापों का फल भी वही और नित्य कर्म का फल भी वही ये तस्य नित्यानुष्ठान है दुर्द फल भोगो न सिद्ध्यति कहते हैं इस माने ये आगे एक हेतु देना चाहते हैं इस हेतु से भी सिद्धांत बोलते हैं वो पाप का फल नहीं माना जा सकता नित्य कर्म के दुख को पूर्वकृत पापों का फल नहीं माना जा सकता इत नित्यानुष्ठान है दूत फल भोगो न सिद्धि का नित्य का अनुष्ठान काल में पापों का जो पूर्वकृत पापों का फल का भोग न सिद्ध सिद्ध नहीं हो सकता क्यों किंच करके वास्तव में कहा था किंच काम्याग्निहोत्रादो हमारे जो दुख होगा काम्याग्निहोत्र का जो कष्ट तो होगा वो जो वो कष्ट काम्याग्निहोत्र का फल मानते हैं क्या उसको क्या मानते हैं काम्याग्निहोत्र फल स्वर्ग आदि मानते हैं वो दुख से भिन्न फल मानते हैं तो नित्य कर्म में वैसे मानना पड़ेगा वही दुख को कैसे मानेंगे नित्य कर्म का फल यही है ये कहना चाहते हैं ये नित्य नित्यानुष्ठान है दुर्द फल भोगो न सिद्धति का माने नित्य अनुष्ठान काल में माने पूर्वकृत पापों का फल नाश होता कहना ठीक नहीं है किंच करके बाद में कहा था किंच काम्य अभिनोत्रादो अनुष्ठीय माने जो काम्य अभिनोत्रादि अनुष्ठान हो रहा है जिस काल में उस काल में नित्यम भी अग्नोत्रादि तंत्र बहुत ही नित्य अग्निहोत्र भी तंत्र है तंत्र न्याय से उसका भी होगा एक ही साथ होगा होने पर तद आया सुखे में नित्य कर्म करते हुए जो दुख हुआ है जो नित्य कर्म हुआ ही है वह काम्य केवल नित्य कर्म किए बिना काम्य अग्नोत्र कर नहीं सकता तो काम्य अग्निहोत्र की चर्चा आ गई तो नित्य भी है वहां तो नित्य कर्म समय दुख होगा तद आयास दुख है नित्य कर्म के जो परिश्रम जनित दुख है उसके द्वारा ही काम्य अग्निहोत्रादि कर्म होत्रादि फल उपष्कर्म से काम्य अग्निहोत्र का जो फल है वो भी नाश हो जाना चाहिए कष्ट है उसी से स्वर्ग आदि नहीं मिलना चाहिए काम्य अग्निहोत्रादि का भी यही एक कष्ट मानना हो नित्य कर्म का जैसे वो कष्ट ही फल मानना है तो काम्य का भी वही फल मानना चाहिए उसका अतिरिक्त फल मानते तो नित्य कर्म भी अतिरिक्त फल है ये सिद्धांत ने कहा तब तंत्रत्वा नित्य कर्म के अधीन है ही कर्म ये कहा आगे टीका में कहते हैं नित्य काम्यानुष्ठान और योगपत्य भी दोनों एक साथ होने पर पूर्वादि बोलता है तंत्र न्याय लग जाएगा जो में हो रहा है तो नित्य भी है वहां तो नित्य काम में अनुष्ठान और नित्य अग्निहोत्रादि अथवा काम में अग्निहोत्रादि एक साथ होने पर भी तंत्र न्याय से एक साथ माना है एक साथ होने पर भी नित्यानुष्ठान आयस दुखाद अन्य देव काम्यानुष्ठान फलम श्रुतत्वात पूर्वादि बोलता है महाराज नित्य अनुष्ठान के द्वारा होने वाले दुख से भिन्न फल होता है क्यों सुनाई पड़ा है फल स्वर्ग काम हो अग्नत्रो जुझात भिन्न फल होता है कामयाब एक साथ अनुष्ठान होने पर भी एक का फल तो दुख मात्र ही हो गया दूसरे का फल स्वर्ग होता है सुनाई पड़ा फल ये पूर्वादि का कहना है नित्य काम अनुष्ठान और दो जो अनुष्ठान है नित्य कर्म और काम्य कर्म योगपत्य भी एक साथ होने पर भी नित्य अनुष्ठान से दुखाद जो नित्य कर्म करते समय आप परिश्रम जन दुख है उससे अन्य देव काम्य अनुष्ठान फलम काम्य कर्म के अनुष्ठान का फल दूसरा ही होगा क्यों श्रुतत्व सुना ही पड़ा है स्वर्ग काम हो अक्षत्रु जी आते स्वर्ग फल सुना ही पड़ा है उसका इति संकते पूर्वादि शंका करता है मीमांसक शंका करता है कहा अथ यदि काम्य अग्निहोत्र फलम अन्य देव स्वर्ग आदि हाँ, एक ही साथ दोनों हो रहे हैं नित्य और काम्य दोनों अग्निहोत्र एक साथ है उस स्थिति में काम्य अग्निहोत्रादि का जो फल अन्यत है माने वो कष्ट नहीं काम्य कर्म करते हैं उसका कष्ट नहीं उससे भिन्न यदि स्वर्ग आदि फल है तो तद अनुष्ठान आयस दुखम भी भिन्नम प्रसाद देता फिर वो जो अनुष्ठान में किया हुआ जो दुख होगा नित्य कर्म अनुष्ठान का आया दुख भी भिन्न ही होगा दुख भिन्न माने प्रसाद तो प्रसिद्ध एवं हाँ माने तद माने जो काम कर्म का अनुष्ठान में परिश्रम है वो दुख भी भिन्न ही होगा यदि स्वर्ग आदि फल वाला तो दुख भी भिन्न ही होगा उसका ये पूर्वादि बोलता है पूर्वादि के मत से कहा तो सिद्धांत बोलते हैं आगे न चक्कर के बोलते हैं न सतत अस्थि दुख भिन्न नहीं है दुख तो समान है चाहे नित्य का अग्निहोत्र करो चाहे काम में अग्निहोत्र करो यदि नित्य कर्म अनुसार आय जन फल यदि काम्य कर्म अतिरिक्त है तो उसका जो दुख होता है काम्य कर्म करते हुए दुख होगा वो भिन्न होना चाहिए किंतु भिन्न नहीं है दुख तो समान है चाहे नित्य अग्निहोत्र करो चाहे काम्य अग्निहोत्र करो दुख तो समान है यदि फल भिन्न है तो दुख भी भिन्न होना चाहिए भिन्न है क्या दुख कष्ट तो समान है चाहे नित्य अग्निहोत्र करो चाहे काम्य अग्निहोत्र करो परिसर जल दुख तो तुम्हें समान है तो तद अस्थि दृष्ट विरोध है देखा गया है दुख तो एक ही है समान है कष्ट तो उतना ही है समय उतना ही लग रहा है कष्ट भी उतने होने है परिश्रम उतना ही है तो ऐसा तो है नहीं ये सिद्धांत कहा <clears throat> मान यदि काम में अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र में यदि विरोध दिखाते हो एक का फल है एक का फल नहीं है मानते हो तो दुख भी भिन्न प्रकार के होना चाहिए दुख में भिन्नता है क्या अग्निहोत्र करना समान है चाहे काम में करो चाहे अनुष्ठान करो ये नित्य करो दुख तो समान है भिन्न तो है ही नहीं तो दुख भिन्न तो है ही नहीं दृष्टि विरोध देखा गया जो है विरोध है कहा कैसा है दिखाते हैं नहीं करके आगे भाषण बोलते हैं नहीं काम्य अनुष्ठान से दुखात जो काम्य कर्म करते समय जो परिश्रम होगा तजन दुख से केवल विद्या नित्य अनुष्ठान नित्यानुष्ठान आयास दुखम भिद्यते दोनों दुख में भेद तो है ही नहीं काम कर्म करते समय जो कष्ट हो रहा है दुख हो रहा है उससे नित्य कर्म करने का दुख भिन्न प्रकार का होता हो ऐसा तो नहीं दुख तो उतना ही है वो काम्यत्व तो, नित्यत्व तो, वो तो मन का धर्म में है परिश्रम तो दोनों समान है उतना ही समय लगना उतना ही सामान चाहिए और दुख भिन्न तो है काम्य कर्म अनुष्ठान में होने वाले जो दुख है उस दुख से नित्य कर्मों का दुख भिन्न होता हो ऐसा तो है नहीं भेद होता नहीं दुख में तो दुख में भेद नहीं है तो फल में भी भिन्न नहीं माननी चाहिए जब काम्य अभिषोत्र का फल स्वर्ग आदि है तो नित्य का भी मानना पड़ेगा जब दुख में भेद है हेतु तो भिन्न नहीं है तो फल में भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए यह सिद्धांत का है किंच और भी बात है अन्यत अभिहितम किंच अन्य और भी बात बता दें अभिहितम अप्रसिद्धम च कर्म तत्काल फल देखो नित्य कर्म का फल तुम तत्काल मानते हो क्या मानते हैं जो दुख है उसी काल में होने वाला दुख नित्य कर्म करते समय का दुख उसी को फल मानते हो और काम्य कर्म का फल भावी अनंतर काल में मानते हो स्वर्ग आदि मानते हो किंतु देखो ये बात सुनो किंच अन्य अभिहितम अप्रसिद्ध शास्त्र में विधान भी रहो जिसका और प्रतिषेध भी नहीं किया हो वही वही होता है तत्काल फल वाला कौन होता है तत्काल फल किसका होता है जो विधि विधान भी रहो निषेध भी नहीं किया हो जिसका निषेध भी नहीं है विधान भी नहीं ऐसे जो होंगे कर्म वो कर्म जैसे भोजन आदि कर्म विधान भी नहीं है निषेध भी नहीं है कैसा कैसा भोजन करना प्रकार तो विधान है किंतु तो भोजन के लिए कोई विधान नहीं तो प्रतिषेध भी नहीं है भोजन न करे ऐसे वाक्य भी नहीं आता भोजन करे ऐसे वाक्य भी नहीं आता जो विहित भी नहीं है प्रतिनिध भी नहीं है वो तत्काल फल वाले होते हैं तृप्ति साथ साथ है भोजन का फल तृप्ति चयन का फल तृप्ति आदि आदि ये तत्काल फल वाले होते हैं विहित भी न शास्त्र में विधान भी न हो और निषेध भी नहीं किया हो किंच अन्य अभिहितम अप्रसिद्धम च कर्म जो कर्म ऐसे कर्म है जो विधान भी नहीं है निषेध भी नहीं है ऐसा कर्म तत्काल फलम तत्काल फल वाले होते हैं और अग्निहोत्र कैसा है अविहित है कि विहित है शास्त्र में विहित है वो तो अनंतर काल वाला फल होगा तो तत्काल फल वाला अग्निहोत्र जो नित्य अग्निहोत्र है उसी काल वाला फल वो दुख वो फल वाला नहीं होगा अनंतर फल अनंतर फल क्या होगा स्वर्ग आदि ये कहना चाहते हैं वो विहित है अग्निहोत्र जो हम्म। तत्काल फल वाले तो योग अग्निहोत्र को तत्काल फल वाले बांध रहे मीमांसक अग्निहोत्र करते समय का जो कष्ट है वही फल है उसका ऐसा नहीं किंच अन्य और बात है अभिहितम अप्रसिद्धम च कर्म जो कर्म अभिहित हो विधान नहीं हुआ शास्त्र में और प्रतिषेध भी नहीं हुआ हो निषेध भी नहीं हुआ हो ऐसे कर्म तत्काल फल तत्काल फल वाले होते हैं न तो शास्त्र चोदितम प्रतिषिद्धम बा जो शास्त्र में जो विधान है अथवा शास्त्र में निषेध है ऐसे जो कर्म होते हैं ये करो ये पथ करो शास्त्र में कहा हो ऐसा कर्म तत्काल फल वाला नहीं होता तो तत्काल फल हो तत्काल फल वाला नहीं होता वो तो अनंतर काल फल वाला होगा भावी फल होगा उसका शास्त्र में विधान हो चाहे निषेध किया हो ऐसा कर्म विहित कर्म हो या निषिद्ध कर्म हो जैसे वो अनंतर फल वाले होते थे वो कहें तत्काल फल वाले नहीं होते वो कालांतर में फल देने वाले होते हो तो यही है और नित्य कर्म को तुम तत्काल फल वाले मान रहे हो और शास्त्र में विहित मानते हो क्या मानते हो शास्त्र में विधान है और तत्काल फल वाला कैसे हो सकता है तत्काल फल वाले तो अभिहित हो और निषिद्ध भी न हो अप्रसिद्ध हो ऐसे कर्म तत्काल फल वाले होते हैं शास्त्र में जो विहित है अथवा निषिद्ध है ऐसा कर्म तत्काल फल वाले नहीं होते कालांतर में फल देने वाले होते हो जैसे स्वर्ग काम हो जाता अभी भी फल देगा क्या भावी फल है वहां अनंतर फल वाला अनंतर काल वाला है ब्राह्मणों ने हम तब मारेगा तो पाप होगा पर लगे तो नरकादि यात्रा होगी भविष्य में होगा तो विधि निषेध शास्त्र में जो विधान है निषिद्ध है कर्म जो विहित है निषिद्ध है वो कालांतर भावी फल वाले होते हैं और यह अग्निहोत्र शास्त्र में विहित है इसको वर्तमान फल कैसे मानते हो एक सिद्धांत का कहना है भवेद यदि तदा स्वर्गादि सुअपी अदृष्ट फल शासन यदि शास्त्र में विहित अथवा प्रसिद्ध कर्म भी यदि वर्तमान में साथ साथ हो उसका फल साथ में मिलता हो क्या मिलता हो हाँ साथ साथ जैसे अग्निहोत्र के फल मान रहे हो तो उसी प्रकार हाँ, शास्त्र में जो विहित है भवेद यदि यदि हो विधान जो विहित है निश्चित कर्म भी तरह उसी काल में फल देने वाले मानने लग जाए तो स्वर्ग आदि से अपनी अदृष्ट फल शासन है तो उद्योग स्वर्ग आदि जो अदृष्ट फल शासन उपदेश वाले होते हैं क्या होते हैं स्वर्ग जो पुत्र का वेदित तो वाक्य आदि कब होते हैं अदृष्ट फल वाला होता है कौन होता है दृष्ट फल नहीं वर्तमान में फल नहीं उसका तो अदृष्ट फल के उपदेश हो रहा है उन वाक्यों का भी सब तो उद्योगों नश्या तो उन वाक्यों प्रयत्न नहीं करेगा कोई स्वर्ग आदि के लिए कोई अनुष्ठान नहीं करेगा क्यों कालांतर में फल वाला है किंतु तो करते कि नहीं करते करते हैं क्यों तो शास्त्र में विहित है वो ठीक इस प्रकार नित्य कर्म भी शास्त्र में विहित है तो उसका फल कालांतर भागी मानना होगा तो कालांतर है या तो अंतर्ग्रहण की शुद्धि है या स्वर्ग आदि फल है दोनों फल में कोई निष्काम भाव से करता हो तो अंतर्ग्रहण शुद्धि के माध्यम से आगे ज्ञान के लिए साधन बनेगा सकाम भाव से करता हो स्वर्ग मिलेगा फल है पूर्व पाप का नाशक तो प्रायश्चित होता है नित्य कर्म नहीं होता यह सिद्धांत का कहना है अग्निहोत्रादि नाम एवं कर्मस्वरूप अविशेष भी अविशेष अनुष्ठान आय शुद्ध मात्र अपक्षय काम्यानाम तो स्वर्गादि महाफलत्व अंग इति कर्तव्यतादि आदि के तु असति फल कामित मात्र सक्यम कल्पित सिद्धांत ये बोल रहे देखो जो अग्निहोत्रादि जो होते हैं ना काम्य और मैंने नित्य दो प्रकार के अग्निहोत्र हैं अग्निहोत्रादि है वह कर्म स्वरूप विषय तो अग्निहोत्रादि कर्म समान है चाहे काम्य हो चाहे नित्य हो कर्म तो समान ही होगा दोनों का फल में अनंतर मानते सिद्धांत यही है समान होने पर अग्निहोत्रादि नाम है जो अग्निहोत्रादि कर्म है कर्म स्वरूप अविशेष है कर्म के स्वरूप को विशेषता नहीं भिन्नता नहीं है अविशेष होने पर अनुष्ठान आयस तो कमादरण पक्ष अग्निहोत्रादि का ही अनुष्ठान जन्य दुख से ही नाश होना मानना अग्निहोत्रादि का से स्वर्ग आदि महाफल फल तुम काम्य जो होगा उसका महान फल देने वाला मानना क्या मानना कौन स्वर्ग आदि फल हाँ। अंग इति कर्तव्यता आदि आदि के तो असत्य अंग उसके साधन क्या क्या है भिन्न नहीं है नित्य कर्म का जो साधन वही काम्य कर्म का साधन इति था जिस प्रकार नित्य कर्म है उसी प्रकार काम्य कर्म करता भेद न होने पर भेद होने पर तो कुछ विशेष फल होगा भेद नहीं है कर्म के स्वरूप में कोई भेद नहीं है कर्तव्य तो आदित्य असति फलकामित मात्र केवल एक में फलकामित तो है एक में फलकामित तो नहीं इतने मात्र से नित्य कर्म में फलकामित तो नहीं है और काम्य कर्म में फलकामित तो इतने मात्र से न सक्यम ही तुम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भिन्न फल है कल्पना नहीं कर सकते महाफल की कल्पना महाफलत्व महाफलत्व न सक्यम कल्पित तो महाफल केवल कामित्व तो मात्र फल कामित्व तो मात्र से नहीं हो सकता समान है इति कर्तव्य इति कर्तव्य तो समान है अंग समान है क्या क्या साधन काम्य कर्म में है वही साधन नित्य कर्म भी है जो जो इस प्रकार इस प्रकार काम्य कर्म जो भोगा उसमें नित्य कर्म में केवल फल मात फल कामी तो अधिकता है इतने मात्र से महाफल की कल्पना नहीं कर सकते काम्य कर्म की यदि नित्य कर्म का फल नहीं है तो काम्य कर्म का फल नहीं मानना होगा यदि काम्य कर्म का फल है तो नित्य कर्म का फल है ये कह रहे सिद्धांत माने भावी फल है कालांतर भावी फल है वर्तमान फल नहीं है क्यों शास्त्र में विहित कर्म कालांतर भावी होते हैं फल देने वाले होते क्या होते हैं नित्य कर्म शास्त्र में विधि विहित है जो विहित भी न हो प्रतिषिद्ध भी न हो ऐसे जो कर्म हो गए तत्काल भाग्य फल वाले होते हैं जैसे भोजन आदि है शयन आदि है ये होते हैं ऐसा कहा गया है ठीक है देखना है अनुष्ठान फलम नित्य अनुष्ठान आयास दुखार भिन्नम से तरी अनुष्ठान आयास दुखम नित्य अनुष्ठान आयास दुखम च भिन्नम से इत्या सिद्धांत बोलते हैं कि काम्यानुष्ठान फल जो काम कर्म का अनुष्ठान है नित्य अनुष्ठान परिश्रम जन दुख से भिन्न यदि है मैंने दोनों दुखों में भेद करते हुए यदि कर्म भेद फल भेद के लिए क्या मानना है तो नित्य अनुष्ठान का, का जन्य कर्मजन्य जो फल हो दुख होगा वो भिन्न है काम्य कर्म करते समय जो तो परिश्रम जन्य दुख भिन्न है यदि मानते हो तरी काम्यानुष्ठान आयस दुखम जो काम्यानुष्ठान परिश्रम जनित दुख है वो भी नित्यानुष्ठान ऐसा दुखम से विधो भिन्नम से तो दोनों का दुख भिन्न होगा यदि कर्म भिन्न है तो दुख भी भिन्न होगा फिर परिश्रम तो समान है दुख कहां भिन्न है दुख भिन्न है क्या दोनों में चाहे नित्य करो चाहे काम में करो कर्म तो उतना ही है दुख तो समान है भिन्न नहीं है ये कहा तद अनुष्ठान आयस दुख में भिन्न है यदि नित्य अग्निहोत्रादि काम अग्निहोत्रादि फल भिन्न है यदि मानते हो नित्य अग्नोत्र आदि के फल से भिन्न फल मानते दुख भी भिन्न प्रकार का होना चाहिए दुख भिन्न नहीं है सिद्धांत ये कहा नजर इत्यादि कहते हैं आगे प्रसंग से इष्टत्व आशंक कहते हैं प्रसंग ठीक है दुख में भिन्न भिन्न प्रकार के दुख होता है नित्य कर्म करते समय दुख अलग है काम में कर्म करते समय दुख अलग है ऐसा मीमांसक है तो सिद्धांत का नच नच तदस्थि दुख तो भिन्न नहीं है भाई चाहे नित्य कर्म करो चाहे काम कर्म करो दुख तो समान है दुष्ट विरोधा जैसे देखा हुआ समान रूप देखा जा रहा है दुष्ट विरोधा कहा था दृष्ट विरोध में स्पष्ट जो दृष्ट विरोध करके सिद्धांत ने हेतु दिया उसी को स्पष्टीकरण करता नहीं करके भाषण में कहा नहीं काम्यानुष्ठान आज जो काम्यानुष्ठान है ना काम्य कर्म का अनुष्ठान है उससे तजन्य जो दुख होगा काम्यानुसार से दुखात तो काम्य कर्म करते जो परिश्रम जन्य जो दुख हो रहा है वो दुख से केवल नित्यानुष्ठान से दुखम विद्यते न ही विद्यते केवल नित्य अनुष्ठान जन्य जो दुख है भिन्न नहीं हो सकता इस सिद्धांत कहा क्यों नहीं तुम तो कहते हैं ठीक आप कहते हैं आत्मज्ञानवत अग्निपद्रादि नाम मोक्षे साक्षात अन्वयो न इत्यत्र अन्य भी कारण होती देखो मोक्ष में संबंध किसका होता है आत्मज्ञान का किसका होता है तो नित्य नैवित्य कर्म का मोक्ष में साक्षात प्रमाण नहीं होता आत्मज्ञान जैसे भितरी की दृष्टांत है आत्मज्ञान वत जैसे आत्मज्ञान का मोक्ष के साथ साक्षात संबंध होता है ऐसा कर्मों का संबंध साक्षात नहीं है परंपरा से तो हो सके वो भी नित्य कर्मों का अंतकर्म शुद्धि के माध्यम से काम कर्मों का तो फल देकर क्षीण हो चुका है वो वत आत्मज्ञान के समान जैसे आत्मज्ञान मोक्ष में साक्षात संबंध रखता है आत्मज्ञानवत ये दृष्टांत कहा व्यतिरिक दृष्टांत है जैसे आत्मज्ञान मोक्ष में साक्षात संबंध रखने वाला होता है अग्निहोत्र आदि नाम मोक्ष साक्षात अन्वय न मान संबंध अनुय शब्द का अर्थ संबंध हाँ, अग्निहोत्र आदि कर्मों का मोक्ष में साक्षात संबंध नहीं इत्यत्र इस विषय में अन्य भी कारण अन्य भी कारण है जैसे आत्मज्ञान मोक्ष में साक्षात संबंध रखता है इस प्रकार नित्यादि कर्म साक्षात संबंध नहीं रखता तो मोक्ष में इसको अन्य कारण भी है कहा क्या कारण तो किंच अन्य करके वास्तव में कहते हैं कारण और भी है अभिहितम अप्रतिहितम च कर्म तत्काल फल में कहा तत्काल कुछ कर्म तत्काल फल देने वाले होते हैं कुछ कालांतर भावी फल वाले होते हैं तत्काल फल वाले कौन जो विधान भी हो शास्त्र में विधान भी रहो अभिहित हो और निषेध भी नहीं किया वो शास्त्र में ऐसे कर्म तत्काल फल वाले होते हैं और कुछ होते हैं कालांतर भावी फल वाले शास्त्र में विहित हो या निषिद्ध हो ये नहीं करना ये करना कहा हो शास्त्र में कालांतर में फल देते हैं ऐसा एक तदेव विवृत्ति कहा एक फल ठीक है कहते हैं यद कर्म मर्दन भोजन आदि जैसे मालिश करवा करते हैं वो जो तृप्ति सुख है क्या कालांतर में होगा दो चार घंटे के बाद तत्काल फल वाला है मर्दन माने मालिश आदि और अथवा भोजन है तत्काल जैसे जैसे भोजन ग्रास गया वैसे वैसे तृप्ति साथ साथ फल है शास्त्र में विहित भी नहीं कर्म करे करके भी नहीं है न करे करके निषेध भी नहीं है ऐसे जो कर्म होते हैं तत्काल फल वाले होते हैं यद कर्म मर्दन भोजन आदि मर्दन माने होता है माने मालिश आदि है और भोजन आदि है तन्न शास्त्र विहितम निषिद्धम ये ऐसा कर्म शास्त्र के द्वारा विधान भी नहीं निषेध भी नहीं है वैसा कर्म तद अनंतर फलम साक्षात फल वाला होता है जैसे से भोजन का ग्रास वैसे वैसे तृप्ति जैसे जैसे जो मालिश होता गया वैसे सुख आराम ये तत्काल फल वाले होते हैं तथा अनुभव तो उस प्रकार से अनुभव हो रहा है तत्काल फल के अनुभव हो रहा है भोजन आदि में शास्त्रीय कर्म तो जो शास्त्रीय कर्म शास्त्र में आए हुए कर्म को शास्त्रीय कहते हैं वृद्धाच्छा से छा प्रत्यय लगाया शास्त्र में होने वाले कर्म को कहे गए कर्म को शास्त्रीय कहते हैं जो वृद्ध संज्ञक शब्द है शास्त्रीय है शास्त्रीय कर्म तो जो शास्त्रीय कर्म है वह तो न अनंतर फलम साथ साथ फल वाला नहीं होता शास्त्रीय कर्म शास्त्र में जो विहित हो चाहे विशिद्ध कर्म हो साथ साथ फल वाले नहीं होते अनंतर से अचोदित होता तत्काल फल होता करके कहा ही नहीं शास्त्र में शास्त्र में जो विहित कर्म होगा तत्काल फल होता है जैसे भोजन आदि का फल तत्काल होता है ऐसा कहा नहीं अचोटी तत्वात शास्त्र में नहीं कहा अतो ज्ञाने दृष्ट फल है जो ज्ञान होगा ना दृष्ट फल है ज्ञान का फल मोक्ष दृष्ट फल है न अदृष्टम फलम कर्म सहकारी भगवती कहते हैं ज्ञान रूपी दृष्ट फल के लिए अदृष्ट कर्म अदृष्ट फल वाला कर्म सहकारी नहीं हो सकता अदृष्ट कर्म तो कालांतर फल वाली होगा क्या होगा परंपरा से साधन बनेगा साक्षात मोक्ष का साधन कर्म नहीं हो सकता जैसे जैसे कर्म किया उसी काल में मोक्ष नहीं हो पाएगा कर्म के माध्यम से ज्ञान होगा ज्ञान से मोक्ष होगा हम्म। शास्त्र में कर्म तो न अनंतर फलम अनंतर शोधित अनंतर कहा ही नहीं शास्त्र में अतो ज्ञान ये दृष्ट फल है ज्ञान जो दृष्ट फल वाला होता है ज्ञान न अदृष्ट फलम कर्म सहकारी होती अदृष्ट फल वाले कर्म ज्ञान में सहयोगी नहीं होगा ज्ञान स्वतंत्र है माने सहकारी माने ज्ञान उत्पन्न होने पर भी कर्म करना पड़े ऐसा आवश्यकता नहीं ज्ञान उत्पन्न होने के लिए तो कर्म की आवश्यकता है उत्पन्न होने के बाद कर्म की आवश्यकता नहीं ना भी स्वयं दृष्ट फल मोक्ष कर्म प्रति क्षमा ज्ञान के लिए सहयोगी भी नहीं हो सकता कर्म समझ समुच्चय नहीं हो सकता कौन सा कर्म समुच्चय तो है पूर्व पहले कर्म कर्म के द्वारा अंतर्गत शुद्धि आदि से आगे जाके ज्ञान होना कर्म समुच्चय ज्ञान होने पर कर्म पक्ष है जैसे दीपक जलने पर मान माचिस आदि की तेल वाती आदि की आवश्यकता नहीं होती है उसकी अपेक्षा नहीं रखेगा क्या करने के लिए अपने वस्तु प्रकाश करने के लिए दीपक किसी की अपेक्षा है किंतु तो अपने उत्पत्ति के लिए अपेक्षा रखता है बाटी आदि तेल आदि की मान दीपक प्रकाश जलने के नाम दीपक है जलने के बाद अपने विषय को प्रकाश करना है अंधेरे में उसके लिए इसके माचिस तेलबाती आदि की अपेक्षा नहीं रखता ठीक इस प्रकार ज्ञान है अपने उत्पत्ति के लिए तो अपेक्षा रखता है जब तक अंधकरण की शुद्धि नहीं होगी कर्मों के माध्यम से तब तक ज्ञान होना संभव नहीं है किंतु उत्पन्न हो गया ज्ञान जब फिर वो कर्मों की अपेक्षा नहीं रखता अपना फल क्या है मोक्ष देना है तो उसके लिए अपेक्षा स्वतंत्र है वो ते कह रहे यहां ज्ञान ये दृष्ट फल ना अदृष्टम फलम कर्म सहकारी होती ज्ञान होने के बाद में जो अदृष्ट फल वाले कर्म है जिसका फल नहीं देखा जाता कर्मों का वर्तमान में नहीं देखा जाता कर्मों का फल वो कर्म सहयोगी नहीं होते ज्ञान उत्पन्न होने पर ना भी स्वयं दृष्टफल मोक्ष है दृष्टफल जो मोक्ष होते हैं दृष्टफल होता है मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ किसी को पूछना ही पड़ेगा दृष्टफल है स्वतः जानता है भी स्वयं दृष्ट फल मोक्ष जो दृष्ट फल वाला मोक्ष है उसमें स्वयं कर्म प्रवृत्ति क्षम प्रवृत्ति के लिए सक्षम ही नहीं होता तो ज्ञान के माध्यम से मोक्ष मिलना है केवल कर्म मोक्ष नहीं पाएगा विवक्ष न तो इत्यादि कहा हुआ वाष्य में ही है न तो शास्त्र शोधितम प्रसिद्धम व तत्काल फलम कहा जो शास्त्र में आया हुआ जो कर्म है विधान है जिन कर्म का अथवा निषेध किया हुआ वो कर्म तत्काल फल वाले नहीं होते अच्छा <clears throat> पवेदेनी यदि हो मानी वो तत्काल फल वाले हो कौन हो शास्त्र में आए हुए कर्म क्या हो शास्त्र में विहित या निषिद्ध कर्म भी तत्काल फल वाले हो जैसे भोजन आदि होते हैं ऐसा हो तो फिर स्वर्ग आदि के लिए कोई विश्वास नहीं करेगा क्यों कालांतर में फल मिल रहा है उसका स्वर्ग आदि के लिए कोई एक आदि करेगा नहीं स्वर्ग आदि का विश्वास नहीं होगा वर्तमान में फल मिलता नहीं फिर एक आदि में प्रवृत्ति नहीं होगी लोगों की ठीक कहना है ठीक है कहते हैं शास्त्रीय से अग्निहोत्रादि रपी शास्त्रीय जो अग्निहोत्रादि है शास्त्र में आया हुआ है शास्त्रीय से शास्त्र में आने वाले को शास्त्रीय कहा जाता है वृद्धि से चम आदेश तक वृद्धम एक वृद्ध संज्ञा करने वाला सूत्र है जिस अशोक के मध्य में आदि वृद्धि संज्ञा वाला है आ है शास्त्र में आ है आ वृद्धिरादेश सूत्र है आ है जिन अचों के आदि में आदि वृद्धि वाला हो उस उस शब्द को कहा जाता है वृद्ध बोला जाता है व्याकरण में और वृद्धा छ वृद्ध शब्द संज्ञ शब्द से क्या होगा छ प्रत्यय होता है छ वही शास्त्रीय शास्त्रीय से अग्निहोत्रादि रवि जो शास्त्रीय अग्निहोत्रादि है अग्निहोत्रादि शास्त्र में विधान है फलान फल अनंतरे फल यदि अनंतर में स्वर्गादि नाम शास्त्रीय अग्निहोत्रादि का फल अनंतर होने पर स्वर्गादि नाम अनंतर अनुपलब्धि विरुद्धता फिर स्वर्गादि के अनंत साथ साथ नहीं आनंतर एक फल हो शास्त्र में आयो कर्म के तत्काल फल हो आनंतर में तत्काल जैसे जैसे भोजन करते वैसे तृप्ति उसी प्रकार जैसे जैसे अग्निहोत्र वैसे वैसे स्वर्ग हो अनंतर अनंतर हो तो क्या होगा स्वर्गादि नाम अभी अनंतर उपलब्धि स्वर्गादि का भी साथ साथ उपलब्धि तो होगी नहीं जैसे जैसे अग्नोत्र कर रहा है वैसे वैसे स्वर्ग उपलब्ध नहीं होता विरुद्धता विरोध होगा तथा तेसु अदृष्टेशु अपनी तथा विध फलापेक्षया जो अदृष्ट हैं स्वर्ग आदि उनमें भी उस प्रकार के फल की अपेक्षा करके अग्निहोत्र आदि में प्रवृत्ति और अग्निहोत्र आदि से दस अग्निहोत्र आदि में कोई प्रवृत्ति नहीं होगी यदि साथ साथ फल मिलने हो ऐसे माना जाए शास्त्रीय कर्मों में भी ऐसा माना जाए तो अग्निहोत्र आदि की प्रवृत्ति क्यों तत्काल फल देते नहीं वो प्रवृत्ति हो रही है इसका मतलब शास्त्रीय विहित या निषिद्ध कर्म जो होता है माने कालांतर भाग्य भी मान करके यज्ञ आदि करते हैं लोग शास्त्र में यही आता है टीका में कहते हैं तदा इत्यादि कहा था वाष्य में तदा स्वर्गादि सोपी अदृष्ट फलाशय शासन है स्वर्गादि जो है ना अदृष्ट फल के शासन करता है शास्त्र क्या होता है स्वर्ग काम पुत्र काम वर्तमान में नहीं है तो उद्यम होने से फिर किसी उद्यम भी नहीं होगा प्रयत्न नहीं होगा किसी का क्यों जब तत्काल फल देने हो तो भावी फल के लिए क्यों करेगा किंच और भी बात है टीका बोला किंच नित्यानाम अग्निहोत्र आदि नाम न दृष्टम फलम नित्य अग्निहोत्र आदि का अदृष्ट फल नहीं है न अदृष्टम फलम तेषा में काम्यानाम तादृ फल फलम न तो तेसु बिना अयम विभाग भावी कहते हैं पूर्वादि कहना चाहते हैं कि नित्य अग्निहोत्र आदि का ही अदृष्ट फल नहीं होता न अदृष्टम फलम पूर्वादि का अनुवाद कर रहे हैं नित्य अग्निहोत्र आदि में ही अदृष्ट फल नहीं होता और तेसाम एवं वही काम्य कर्म वही वही अग्निहोत्र आदि है तेसाम एवं अग्निहोत्र आदि वही अग्निहोत्र काम्य आना काम में हो जाए तो क्या होगा तादृक फलम अदृक फलम ये कल्पना है कुर्बानी की जैसे अग्निहोत्र आदि का फल नहीं होता अदृष्ट फल नहीं होता दृष्ट फल होता है तो मान उसे आयास जन्य दुखी फल मानना है उनका अदृष्ट फल नहीं होता किंतु वही अग्निहोत्र आदि वही है तेसाम एवं अग्निहोत्र आदि वही अग्निहोत्र काम्य आना काम में हो तो तादृक फल अदृष्ट फल स्वर्ग आदि फल होते हैं मानते हैं न तो हेतु बिना अयम विभाग अभाव भी कहते हैं एक कारण बताया भी नहीं विभाग नहीं कर सकते आप एक ही नित्य कर्म और काम्य कर्म हो रहा है एक का फल मैं क्या हो रहा है अदृष्ट मानना एक का फल दृष्ट मानना हेतु बताओ एक को तो तजन परिश्रम भी फल है दुखी फल है बोलना और एक का फल स्वर्ग मिलता है बोलना अग्निहोत्र आदि का तो कारण के बिना कैसे बातें समझा जाएगी ये सिद्धांत ने कहा नित्यानम अग्निहोत्र आदि नाम नित्य जो अग्निहोत्र आदि है न अदृष्टम फल अदृष्ट फल उनका नहीं है स्वर्ग आदि फल नहीं है वरना और तेसा में वो नित्य कर्म है यदि काम्यत्व तो, कामना मात्र है कामना विशेष है तेसा में काम्या नाम वही अग्निहोत्र आदि जो काम्य है उनका तादृक फल पर अदृष्ट फल न तो हेतु बिना अयम विभाग भावी कहते हैं ये विभाग होना संभव नहीं हेतु के बिना कारण बताना होगा क्या कहा हेतु क्या है ये कहना चाहते सिद्धांत तदा स्वर्गादिशु अपनी अदृष्ट फल शासन है हम्म, तो सात उस काल में जाओ हेतु तो नहीं है तो स्वर्ग आदि में किसी को नहीं होगा मैंने स्वर्ग किस कारण से मानना यदि हेतु नहीं है तो उस काल में स्वर्ग आदि में भी जो अदृष्ट फल को उपदेश करने वाला वाक्य आते हैं स्वर्ग आदि के विषय में स्वर्ग काम को यजता आदि उसमें विश्वास नहीं होगा प्रयत्न नहीं करेगा कोई यदि विभाग नहीं कर पाओगे तो विभाग के लिए कोई साधन नहीं है ये कहना है अग्निहोत्र आदि नाम इत्यादि वाक्य से कहा अग्निहोत्र आदि नाम एवं कर्म स्वरूप विशेष अग्निहोत्र आदि कर्म समान स्वरूप कर्म का स्वरूप तो समान है दोनों चाहे काम्य हो चाहे नित्य हो अनुसार आय दुख मात्र क्षय माने अग्निहोत्रादि का अनुसार मात्र दुख से नाश हो जाता है बोलते हो नित्य वाले का और काम्यानाम से जो तो काम्य वाला अग्निहोत्र होगा कर्म स्वरूप का दुख तो समान है दोनों कर्म करते हुए दोनों में दुख है स्वर्ग आदि महाफल तुम स्वर्ग आदि महाफल की कल्पना हम पढ़ना वाले जाएगा अनु करना ये कल्पना नहीं कर सकते हो कल्पना तुम असत्य हो कहा क्यों अंग इति कर्तव्यता आदि आधिक्य तो असति यदि अंग अधिक हो तब तो फल भिन्न मानेगा अथवा इति कर्तव्यता में भिन्नता हो तब भी फल भिन्न माने जाए क्योंकि इति कर्तव्यता भी भिन्न नहीं है उसी प्रकार है और अंग भी समान है साधन भी समान है उस चित्त में एक का फल स्वर्ग मानना एक का फल यही क्षीण होना मानना ये कल्पना युक्त नहीं है न सकम कल्पना नहीं की जा सकती कहा था सिद्धांत ने कहा था फल कामित तो मात्र से अधिक हो जाता फल स्वर्ग मिलता है कहना बनता नहीं नश्यादित पूर्वण संबंध नश्यात के क्या हालाना उसमें पूर्व के साथ संबंध कर देना बोल दिया पूर्व में नकार है वाक्य में वाक्य में तो कल्प है तुम न सक्यम का उद्यम नहीं होगा ये कहा अच्छा हाँ। ठीक है ना यानी नित्यानी अग्निहोत्रादि ने जितने भी नित्य अग्निहोत्रादि कर्म है यानी जो काम यानी जितने काम्य अग्निहोत्रादि है नित्य कर्म और काम्य कर्म जितने भी है तेसाम तो उभय शाम एवं दोनों के दोनों नित्य हो चाहे काम्य दोनों कर्मों का स्वरूप कर्म स्वरूप विशेषता हो कर्म पे तो विशेषता है ना जो समान है चाहे नित्य अग्निहोत्रादि हो चाहे काम्य अग्निहोत्रादि हो कर्म समान है और कर्मस्वरूप विशेषाभाव भी तो कर्मस्वरूप विशेष न होने पर भी नित्यानंद तेषाम अनुष्ठान आयस दुख मात्र क्षय नित्य कर्मों का तो क्या होगा उनका अनुष्ठान मात्र से जो परिश्रम होगा परिश्रम जन दुख से नाश हो जाएगा नित्य कर्मों का आगे फल नहीं मानते मनाक्षर कोई दुख मात्र फल हो गया से नाश हो गया तो फलांतर मस्ती नित्य का अन्य फल नहीं है स्वर्ग आदि फल नहीं है इनका तेषा में वही कर्म हो रहा है वही कर्म केवल काम्य तो विशेषण लगा दिया तेषाम एवं काम्यानाम वही नित्य कर्म तेषाम में विद्यानाम एवं काम्यानाम नित्य कर्म काम्य वाले नित्य कर्म हो रहा है उसका हम्म। हाँ, अंगादि आदि के अभाव भी न अंग अधिक है साधन अधिक भी नहीं है और इति कर्तव्य तो अधिक भी नहीं है समान है जैसे नित्य में किया था वैसे कर रहा है साधन वही है जो नित्य में थे वही काम्य भी, है होने पर भी आराम तेसा अनुसार आज तेसा में अंगादी अंगादि क्या भाव है अंगादि नहीं है अधिक नहीं है उतना ही अंग है उतना ही कर्तव्यता है होने पर भी फलकामित्व अधिकारी अस्थि वो अधिकारी में काम में करने वाले अधिकारी में फल कामित्व है क्या है इतने मात्र से कोई विशेषता कल्पना नहीं कर सकते अस्थि यथावन मात्र इतने मात्र से केवल फल कामित्व अधिक हो रहा है अंग भी ज्यादा अधिक नहीं है इति कर्तव्य अधिक भी नहीं है वही कर्म है कर्म का स्वरूप समान है ऐसे होते ही स्वर्ग आदि महाफल तो विद्यायु विभागों न प्रमाणवान कहते हैं स्वर्ग आदि महाफल मानना उसका काम्यों का ये कोई प्रमाण युक्त वचन नहीं है प्रमाण वाला वाक्य नहीं है ये कहा ये कहा था आगे टीका में उक्त विभाग का अयोग्य फलते तो नित्य और काम्य में विभाग नहीं कर पाते हैं विभाग कोई प्रमाण नहीं है नित्य और उसमें स्वरूप कर्म का स्वरूप भी समान है और अंग भी समान है साधन और इतिकर्म में समान है कैसे जैसे काम में कर्म का फल स्वर्ग है तो इसका तो फल स्वर्ग मानना पड़ेगा नित्य कर्म क्यों नित्य कर्म का फल यही क्षीण होता है तो काम्य का भी यही क्षीण होता है मानने को तैयार नहीं पूर्वादी मीमांसा मानने को तैयार नहीं है तो जैसे काम्य कर्म का फल अतिरिक्त है इस पर नित्य भी अतिरिक्त है ये मानना होगा ये सिद्धांत ने कहा उक्त विभाग आयोग विभाग नहीं हो पाएगा नित्य और काम्य का फल भेद यह काम परिश्रम जन्य दुख मात्र रहा है और एक स्वर्ग है हम्म। उक्त विभाग आयोग ऐसे विभाग के अयोग अयुक्त होने पर फलित वहां तस्मात कहा तस्मात न नित्यानाम कर्माम अदृष्ट फलाभाव नित्य कर्म का अदृष्ट फल का अभाव नहीं है कदाचित भी न उपपत्ति थे कभी भी ऐसा नहीं नित्य कर्म का जो फल अदृष्ट फल कौन सा फल स्वर्ग आदि फल भोजन आदि क्रिया का फल तो दृष्ट फल ऐसा यह अदृष्ट फल है कालांतर भावी फल न नित्यानम कर्म अधिष्ठा फल का अभाव अदृष्ट फल का अभाव कदाचित अभी न उपबद्ध थे कभी भी है कर नहीं सकता युक्ति संगत नहीं होता फल है उसका न कदाचित अभी उपबद्ध थे वहां से कम नहीं है है फलाभाव फल नहीं फल का अभाव कभी भी हो नहीं सकता यही है तस्मात न नित्याराम कर्मा नित्य कर्म जो है उनका अदृष्ट अभाव कदाचित अभी न उपबद्ध थे कभी भी नित्य कर्म का फलाभाव कभी कह नहीं सकते फल नहीं है नहीं कह सकते फल है या स्वर्ग आदि फल या कर्म शुद्धि आदि फल यही है अतश्य और भी एक हेतु देते भाष्य में अतस्य अविद्यापूर्वक कर्म देखो कर्म होता है अज्ञान काल में जब तक अपना आत्मा का ज्ञान नहीं है अपना पहचान नहीं है देहादि में आत्मबुद्धि है उस काल में कर्म होता है अतश्य इस हेतु से भी अविद्यापूर्वक कर्म जब जब कर्म होता है अविद्या है तभी कर्म अविद्यापूर्वक भी कर्म होता है ज्ञान काल में कर्म नहीं हो सकता अविद्यापूर्वक से कर्म कर्म के पूर्व अवस्था में क्या अविद्या है कर्मणो विद्या एवं शुभाशुभ से वह सह कारण सह कारण हैं शुभाशुभ जो अविद्यापूर्वक होने वाले कर्म चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो चाहे स्वर्ग आदि का कर्म हो चाहे नर्क आदि के लिए कर्म हो विधि से जो भी होता हो विधि हो चाहे विषय हो कर्म तो शुभाशुभ जो भी कर्म होगा अविद्यापूर्वक कर्म कैसा होगा उसका नाश करने वाला विद्या एवं सहकार उस कर्म का नाश कौन करेगा विद्या ज्ञान ही नाशक है ज्ञान ही नाशक होता है अविद्यापूर्वक जो कर्म होता है चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो अविद्या काल पे ही है वह उसका नाश का कारण छह कारण विद्या एवं उसका नाश के कारण तो विद्या ही है ज्ञान ही है अशेषत संपूर्ण कर्म चाहे शुभाशुभ जितने भी कर्म है अविद्यापूर्वक होने वाले जब तक अज्ञान है देहादि में आत्मबुद्धि है वर्णाश्रम में आत्मबुद्धि है मैं अमुक वर्ण का हूं अमुक आश्रम हूं इत्यादि बुद्धि है तब तक कर्म होता है शुभाशुभ कर्म तो अविद्यापूर्वक जो कर्म होता है वह कर्म शुभाशुभ जितने भी कर्म है वो उसका क्षय का नाश का कारण क्या है विद्या ही विद्या ही कारण है कहा संपूर्ण कर्म का नाश अशेषता लगा दिया है न नित्य कर्मानुष्ठान नित्य कर्म का अनुष्ठान क्या होगा उस कर्म का नाश का कारण नहीं होता शुभाशुभ कर्म का नाश का कारण नहीं होता तो पूर्वादि ने कहा था पूर्वकृत पापों का नाश ये कहा था हो नहीं सकता अविद्यापूर्वक कर्म हो रहा चाहिए पाप हो चाहे धर्म हो जो भी हो अविद्यापूर्वक हुआ है वह कर्म उसका नाश तो ज्ञानी करेगा निष्काम कर्म से अंधकर्म की शुद्धि नहीं नाश तो नहीं किया ना उसने पाप का नाश नहीं किया अंतकरण शुद्धि हुई फल उधर है तो अविद्यापूर्वक कर्मो विद्या एवं सुभाष क्षय कारण कहा अशेषता संपूर्ण कर्मों का चाहे ज्ञान अविद्यापूर्वक जो चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो जितने भी कर्म सुभाष कर्म का नाश ज्ञान है न नित्य कर्मानुसार नित्य कर्म का अनुसार तो उसका नाश नहीं है सुभाष कर्म का नाश नहीं है ये कहते हैं क्यों अविद्या काम बीजम भी सर्वमे वो कर्म देखो अविद्या काम कर्म संसार का स्वरूप तीन तो माना जाता है अविद्या है अज्ञान है अपना अज्ञान है देहादि में आत्मबुद्धि है अपना अज्ञान है इसलिए इच्छा होगी क्या है तब तक विषयों की इच्छा इच्छा होने से कर्म होगा अविद्या और काम दो बीज बनते हैं किसके कर्म के अविद्या है इच्छा भी है अज्ञान है इच्छा भी है तब तक विषयों की इच्छा है इसलिए कर्म होते ये दो बीज वाले कर्म होते हैं जब कर्म हो रहा हो तो दो चीज अवश्य है अज्ञान है अज्ञान कारण इच्छा भी है तत्व विषय की इच्छा है उसकी तब कर्म करता है ज्ञान के बाद नहीं होगा ना राग द्वैत द्वैत में होगा हाँ, तो, तो पहले तो अविद्यापूर्वक हो जाए ना अज्ञान है तो कर्म होता रहेगा रागदेश होगा रागदेश से कर्म होगा तो है राग है वहां वहां भी राग है अविद्यापूर्वक सारे कर्म राहु देश पूर्वक होता है ठीक है सुभाषु कर्म जितने बोल दिया अविद्या काम बीजम ही माने अस्पाद अविद्या काम बीजम अविद्या स काम से अविद्या काम द्वंद समाज करना अविद्या काम बीजम यसे करना बहुगुरी द्वंद कर्म बहुगुरी कर देना माने अविद्या और काम दो काम माने इच्छा अज्ञान अज्ञान जन इच्छा विश्व की तत्व विश्व इच्छा वही बीज होते सारे कर्मों सर्वम एवं कर्म सारे कर्म अज्ञान और इच्छा काल में होते हैं अज्ञान है अज्ञान जरा इच्छा हो तो कर्म होते हैं ये आता तथा जो उपाधि में पहले सिद्ध कर दिया है अविद्या काम बीज वाले होते हैं कर्म करके सिद्ध किया है अविद्युत विषय कर्म कर्म कब तक जब तक आत्मज्ञान नहीं है अज्ञानी है अविद्वान को विषय करता कर्म किसको ज्ञानी को नहीं अविद्वत विषय कर्म अज्ञानी को विषय करने वाला कर्म होता है जो देहात्म बुद्धि है जिसमें जब तक है तब तक कर्म होता है देहात्म बुद्धि से रागद्वेश आदि आएगा रागद्वेश जाने कर्म होगा अविद्युत विषय कर्म विद्युत विषयाचक सर्वकर्म संन्यास पूर्व का ज्ञानिष्ठान ज्ञानी को विषय करते क्या विषय करता है अज्ञानी को तो विषय करता है कर्म सुभाष कर्म विषय करेगा अज्ञानी को और ज्ञानी को क्या करेगा कहते सर्वकर्म संन्यास पूर्व का ज्ञानिष्ठा ये विषय कर संपूर्ण कर्म का त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा है ज्ञान उपस्थिति ये ज्ञानी का विषय है अज्ञानी विषय होता है सारा कर्म यही होता है जब तक अज्ञान है तब तक कर्म विद्युत विषय से ज्ञानी को विषय करने वाला कौन है ज्ञान निष्ठा आगे जाकर अंदर करना कैसे ज्ञान निष्ठा सर्वकर्म संन्यास पूर्विका सारे कर्म का तिलांजलि हम्म। कोई कर्म नहीं अपने को दशकर्म भाव में पहुंचाना ज्ञान निष्ठा ज्ञान ज्ञानी को विषय करने वाले होते हैं ज्ञान निष्ठा कर्म को कर्म निष्ठा है इत्यादि क्यों द्वितीय देव बोल के आए कहते हैं दोनों नहीं जानते ये एवं व्यक्ति हंतारम यम मनते हतम ओ तो विजान आदि नाम जिस आत्मा को जो मारने वाला था मरने वाला समझते हो माने मरने वाला किसी के द्वारा मारा जाए अथवा ये मारने वाला समझता हो ये दोनों नहीं जानते मारने वाला समझने वाला भी नहीं जानता मरने वाला समझता हो वो भी नहीं जानता वो होता वो नहीं जानता वो दोनों व्यक्ति नहीं जानते किसी आत्मा के विषय में आत्मा को मारने वाला मरने वाला करके मानने वाले दोनों के दोनों नहीं जानते हो ना ये मनती ना अन्य देखिए तो वह आत्मा मरता भी नहीं मारता भी नहीं अन्य क्रिया का करता भी नहीं बनता मरण क्रिया का कर्म भी नहीं बनता ऐसा आया आत्मा के विषय में ऐसा आया है ज्ञान और अज्ञान अज्ञान दिखाया क्या दिखाया अज्ञान को दिखाया जब मरने वाला और मारने वाला समझता हो आत्मा को तो वह तो उन्हें भी थी उदौन तो उन्हें भी जानते अज्ञान का विषय दिखाया यहाँ वह तो उन्होंने भी जाना करके एवं व्यक्ति हंतारम यश अनुमनित हतम वह तो उन्हें भी थी ना ही मत अज्ञान का विषय दिखाया अज्ञान काल की बात है मरना और मारना समझना मरने मारने वाला शरीर है किसी को मारेगा किसी से मरेगा शरीर होता है तो आत्मा कोई मरने मारने वाला समझता हो तो नहीं जानते दोनों के दोनों नहीं जानते ऐसा कही अज्ञानकालीन बात है और ज्ञान काल में कहा वेदा विनाशन एनम अजम व्ययम प्रथम स पुरुष पार्थ कम घात ऐतिहांतिकम एनम नित्यम अविनाशन नाम वेद जिस इस आत्मा को जो प्रकरण जिस आत्मा है इस आत्मा को जो जानता हो अविनाशी है नित्य है ऐसा आत्मा को स सपुरुष वो व्यक्ति जिस आत्मा को जानने वाला व्यक्ति कथम घात है यदि कथम कैसे मारेगा किसी दूसरे को मरवाएगा अथवा कैसे पड़ेगा इत्यादि वेदा विनाश मध्यम कथम से पुरुष आता कम घाता यदि हंति कम किसको मारेगा किसको परवाएगा दोनों नहीं कर सकता इस आत्मा को जो जानने वाला क्यों अद्वैत भाव में पहुंचा हुआ होता है उस काल में शरीर आदि से ऊपर की स्थिति है हम्म। शरीर भाव में आत्मा को एकता करने पर मर्द और मारने वाला समझता था वो बहुत अनुविजानादि नहीं की और आत्मभाव में पहुंच रहे मरना मारने की बात ही नहीं होती है ये ज्ञान की बात कही है श्लोक में पहले वाले में अज्ञान काल की बात कही ये ज्ञान काल की बात है और दोनों को भिन्न भिन्न निष्ठा भी बताई तृतीय अध्याय में जाकर ज्ञान एगन सांख्या नाम कर्म गोविंद ने कहा लोक बताते हैं अरे लोग लोक में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं एक कर्म में निष्ठा रखने वाले शरीर में आत्मबुद्धि है और ज्ञान में इच्छा रखने वाले शरीर में आत्मबुद्धि नहीं है दो प्रकार के होते हैं ऐसा कहा हुआ है और अज्ञानम कर्म संगिनों कहा न बुद्धि भेदम जनित अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशित सर्वकर्माणी विद्वान समाचरण कहा है जो ज्ञानी और अज्ञानी ज्ञानी पुरुष अज्ञानी को बुद्धि में विचलित न करे जो कर्म कर रहा था देहात्म बुद्धि से करने दे उसको यही है अज्ञान हम कर्म से अज्ञान जो कर्म में आसक्त रखने वाले को बुद्धि विभेद पैदा अरे ऐसे कुछ नहीं होगा ज्ञान में चलो अभी उसके सामर्थ्य नहीं है वहां जाने का हाँ, जो है सर्व कर्माणी विद्वान समाज वहां तो सबके कर्मों में लगाए उसको जोड़े स्वयं लगता हुआ जोड़े क्यों भावी उन्नति होगी कर्म करते करते अंतकर्म की शुद्धि के माध्यम से उन्नति होगी उसकी पहले कर्म छोड़ा दिया तो काम नहीं चलेगा स्थिति ऐसी है वही उत्साह बढ़ा है उसको ऐसा आया तृतीय अध्याय में हम्म। न बुद्धि भेद बुद्धि में भेद पाया जाना चाहते अरे कर्म से कुछ नहीं होगा उस काल में न बोले उसको हम्म। ज्ञानाम कर्म जो जोश सर्वकर्माणी सारे के सारे कर्म करवाए उसे विद्वान समाचार स्वयं लगता हुआ उसे करता हुआ तृतीय अध्याय का तत्ववित्त महाबाहो तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग हो गुणा गुणागुणेश वर्तन तृतीय अध्याय की बात है जो तत्वविद्ता होगा आत्मविद्ता होगा ये महाबाहो गुण कर्म विभाग हो गुण और कर्म का जो विभाग जानता हो किस गुण का कौन कर्म होता है जानता हो तो गुणागुणेश वर्तन दे वो क्या मान के रहता है इंद्रिय भी गुण है विषय भी गुण है इंद्रिया सत्व सत्वादि गुण के कार्य हैं और विषय जो होगा तम गुण का कार्य है दोनों गुणों का कार्य है त्रिगुणात्मक है गुणों का कार्य गुण ही गुण में रहते हैं इंद्रिय रूपी गुण विषय रूपी गुण में रहते हैं ऐसा समझता है वो मैं नहीं ये देखने वाला सुनने वाला करने वाला मैं नहीं वो मानता हो माने चक्षु रूपी जो इंद्रिय रूपी गुण है माने माने रूपादि रूप में विषय कर रही है मैं देखने वाला मैंने आप नहीं देखने वाला ऐसा समझता है तभी भी क्या है तृतीय अध्याय ज्ञानी की बात कही और पंचम अध्याय में जाकर कहा सर्वकर्माणी मनसा संजय शास्त्र सुखम बसी कहा सर्वकर्माणी मनसा संन्यास सारे कर्मों को शुभाशुभ कर्मों को मन से ही त्याग करके शरीर तक आने नहीं देता ज्ञानी सर्वकर्म मनसा संन्यास आस्ते सुखम बसी तो वो द्वारे पूरे कहां रहता है उसका जीवन मुक्ति अवस्था में कई बल्ले मोक्ष में नहीं पहुंचा शरीर रूपी नवद्वार रूपी शरीर में है अभी क्योंकि सारे कर्मों को मन से त्यागा हुआ उसने सर्वकर्माण शासन शास्त्र सुखम बसी नवद्वारे पूरी रही नैव कुरबन कारण पंचवत्य की बात है ये ज्ञान ज्ञानावस्था की चर्चा है किस अवस्था की ज्ञानावस्था की है कोई ज्ञानावस्था में कहा नैव केंद्रित करोगे तो युक्तो तत्व पश्चिम सुवन प्रश्न दर्शन कथन ससन प्रलपन विस्तृतन किरण निविशन निविशन नपी इंद्रिया इंद्रियार्थ तिहार है है इत्यादि है मैं कुछ न करने वाला हूं समझ के रहता ज्ञानी करने वाले इंद्रिया हैं और इंद्र अपने आप विषय में चल रहे हैं मैं असंग आत्मा हूं इस बात में होता है ज्ञानी ये अवस्था की चर्चा है नैव करो करोगी आदि हाँ। अर्थात नैव केंद्रित करोगी कौन मानता है तो ज्ञानी तो अर्थ से ज्ञानी अज्ञानी करोगी इति मानता है क्या मानता है यहाँ अज्ञानी करता है ऐसा शब्द तो नहीं यहाँ क्या अर्थ से आ गया ज्ञानी नहीं मानता है मैं करता हूं तो अज्ञानी मैं करता हूं मानता है मानते आत्मबुद्धि वाला अज्ञानी मैं करता हूं मानता है क्या अर्थ से आया ये शब्द तो नहीं वहां जो केंद्र करोगे तो मैं ज्ञानी की चर्चा में है किंतु अर्थ से आया अज्ञानी जो होता है मैं करता हूं मानता है क्या है आरूक्ष और छठे अध्याय में ज्ञानी और अज्ञानी की दो एक साधक और एक सिद्ध जो की चर्चा करेगी आरूक्ष अवस्था अभी उसमें जाने की इच्छा है आरूढ़ होने की इच्छा है आरु वृक्ष और एवं कर्म कारण उच्चते उसका कर्म कारण है एकाएक ज्ञान में जाके बैठना संभव नहीं है उसके लिए भाई अंतकर्म साफ होना पड़ेगा कर्म के माध्यम से सफाई होगी तभी ज्ञान में जा पाएगा आरु वृक्ष और एवं कर्म कारण उच्चते योगारूढ़ से बस आरूढ़ हो चुका है उसके समा कारण उच्चते कर्म का समाप्ति कर्म त्याग ने कहा एक आरुवृक्ष कर्म कारण जो कर्म कारण आरुवृक्ष अवस्था में कर्म को कारण बताया आरूढ़ जो आरूढ़ हो चुका है योगस्थ योग स्थित हो गया है आत्मभाव पे पहुंचा है समय व कारण कर्म का शांति समापन करने का कारण होता है कहा सारे कर्म का संन्यास उस काल में क्या कर्म संन्यास आरूढ़ होने के बाद और उदारास्तव की आज्ञा कहा सप्तम अध्याय कहा था चतुर्विदा भजन देवाम जनाश कृतर्जुन आर्तो जिज्ञास अर्थार्थे ज्ञानी चवर्त उसके बाद कहा उदारा सर्वे थे सब सब उदार हैं वो तीन भी उदार ही हैं भगवान की तरफ कैसे भी लगे चाहे आर्तभाव से गए चाहे ज्ञासु भाव से गए चाहे अर्थात भाव से जाए हाँ, भगवान की तरफ से गए तो ये भी उदार है उदारा त्रयोगी तीनों के तीनों जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तीनों के तीनों उदार तो हैं अज्ञाती तीनों तो फिर भी अज्ञानी है हाँ, उदार होने पर भी अज्ञानी हो वो ज्ञान नहीं हुआ है ज्ञान होगा तो होता तो ज्ञान निष्ठा पर रहता फिर आर्तादि हरण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता अथवा विश्व की इच्छा को लेकर के भगवान से प्रार्थना नहीं करता तो उदाहरण त्रयोगी तीनों तीनों जो मान जिज्ञासु है अर्थात आर्त है तीनों तीनों फिर अज्ञान अज्ञानी फिर भी अज्ञानी है क्यों क्यों ज्ञानी तो आत्मा विवतम कहा है ज्ञानी को तो अपना स्वरूप ही पता है परमात्मा ज्ञानी तो उदाहरा सर्वे थे ज्ञानी तो आत्मा ही ज्ञानी तो मम आत्मा है मेरा आत्मा ही है ऐसा आया है सप्तम अध्याय में अज्ञान वाले कौन कर्म न हो जो अज्ञानी कर्मों के लिए नवम अध्याय में कहा था जो अज्ञानी हो गया ना देहात्म बुद्धि वाले अपना आत्मज्ञान नहीं है नवम अध्याय में कहा था त्रय विद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञ दृष्टवा स्वर्ग तम प्रार्थयते ते पुण्यमासा ते स्वतंत्र लोकम अश्नंति देवांति विदे भगवान ते तम भुक्त सर्वलोकम विशालम क्षणे पुण्य मृतलोकम विशंति एवं त्रय धर्म मनो प्रपन्ना गतागतम काम काम लभंते ये कहा था मैंने तीनों वेदों में विहित कर्म है उनको करके स्वर्ग पहुंच गए त्रय विद्या तीन विद्या जिसमें है तीन विद्या में होने वाले जो साधन कर्म है के दुषाम उसमें होने वाले कर्म हैं उस उनके आधार पर कर्म करके स्वर्गतिम प्रार्थना स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं प्रार्थना करते हैं स्वर्ग मिल जाए स्वर्ग मिल जाए स्वर्गतम प्राप्त यज्ञ अनुष्ठा स्वर्गतम प्राप्त तेतम भुक्त स्वर्ग ये लोग जो गए हैं स्वर्ग विशाल स्वर्ग लोग भोग करेंगे क्षीणे पुण्य मर्द लोगों विशाल विवाद जिस पुण्य को लेकर के गए थे वो पुण्य समाप्त हो गया उन्हें पर फिर यहीं आ जाते हैं यहीं हो जाते हैं प्राप्त करते हैं एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्न इस प्रकार जो तीनों वेदों के धर्म कर्म हैं उनके में लगे हुए लोग जो होते हैं गतागत जाना और आना यही करते रहते हैं आवागमन रहित मार्ग में नहीं जा सकते गतागतम जाना आना काम काम अलबंध इत्यादि है तो गदागत जाना आना इनका काम होता है जाओ आओ जाओ आओ काम कामानाम काम काम्यंत काम काम विषय को चाहने वाले ये अर्थ होता है एक शब्द काम का अर्थ विषय है दूसरा काम इच्छा कामानाम काम्यंत काम काम लगभग एक प्राप्त विषय को चाहने वाले को एक गति होती है ये कहा हुआ है और आत्मजाता के लिए कहा आत्मजाने के लिए अन्य चिंता तो वहां कोई चिंता ही ना होती अन्य भाव से चिंतन करते हुए अभिन्न भाव अनन्य अभिन्न अनन्यास चिंतन तो वहां ये जना परिभाषते तेसा नित्याभिभूतान योग और क्षेम भाव हम्म। माने उनके जो योग और क्षेम है अप्राप्त फल की प्राप्ति प्राप्ति की रक्षा मैं स्वयं करता हूं यदि के ईश्वर के अधीन होकर के बैठ जाए तो ये कहा हुआ है अपने पुरुषार्थ करने लग जाते करने दो भाई तुम अपना कमाओ खाओ हमें क्या लेना उसे हम्म। कर्म आदि करो स्वर्ग आदि जाओ फिर आओ जाओ करते रहो यदि मेरे विश्वास में रहोगे तो सारी व्यवस्था मैं करूंगा अनन्या चिंतन तमाम ये जना परिभाषते तेषा नित्याभियुक्ता भाव में हम ज्ञानी के लिए है अनन्या चिंतन नित्ययुक्ता यथोक्तम आत्मा कैसे नित्ययुक्त होकर के कैसे चिंतन करते भाई कहा यथोक्तम पूर्वोक्त आत्मा उसके आकाशकल्पम निर्विशेष है आत्मा कैसा है जैसे आकाश है कैसा है निर्विशेष आकार रहित आकाश आकाश सदृशम यही है कल्प का सदृश अकल्पसम पाप रहित है जैसे मनुष्य पाप है धर्माधर्मादि पाप से रहित उपास है जो उपासना करते हैं अनन्या चिंतो माम ये जहां परिपास है ये कहा और दसम अध्याय में कहा था तेसाम नित्याभियुक्ता नाम नहीं दसम तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि तम ये नाम उपयान देते दसम अध्याय में कहा था जो तो निरंतर मेरे ही चिंतन कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं भजन कर रहे हैं साधन कर रहे हैं ऐसे जो लोग होते हैं मेरे अनन्य भाव क्या है अनन्य भाव से नित्य लगे हुए हैं उनको मैं ये बुद्धि रूपी योग देता हूं ज्ञान रूपी ज्ञान देता हूं कहते हैं जिसके द्वारा मेरे को प्राप्त जिस ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त करेंगे मैं वो देता हूं एक ददामी बुद्धि योगम तब दस मध्य की बात है तेसाम सतत उक्ताराम भजताम पीड़ित पूर्वकम प्रेम पूर्वक मेरा जो भजन कर रहे हैं उनके लिए मैं क्या करूंगा ज्ञान रूप योग दूंगा जिस ज्ञान योग से मेरे को प्राप्त करेंगे ये कहा अर्थात न कर्म लो जानते भगवान को तो अज्ञानी जो होते कर्मी जो होते भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हम्म। भगवान की प्राप्ति के लिए साधन ही नहीं किया वो तो स्वर्ग आदि के लिए साधन किया वही प्राप्त करेंगे फल हो गए फिर आएंगे जाएंगे ये चलेगा इत्यादि कहा समय हो गया है समझ नहीं रखते हैं ओम पूर्ण पूर्णात पुनश्च पुनरेवा